नमस्कार मित्रों ये जो मेरा वीडियो है वो मैंने अभी जो अखबार में एडवर्टाइज दिए गुजरात समाचार अहमदाबाद एडिशन और इंडियन एक्सप्रेस में उसके ऊपर है अखबार में क्या एडवर्टाइजमेंट दिया है कि हर एक आदमी को अपना कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी और रिलीजियस ड्यूटी अपना कॉन्स्टिट्यूशनल कर्तव्य संवैधानिक कर्तव्य और धार्मिक कर्तव्य निभाना शुरू करना चाहिए आज से ही अभी से क्या कौन सा कर्तव्य कि आप अपने मोबाइल से एसएमएस से एमपी को ऑर्डर भेजो कि आपको कौन-कौन से कानून चाहिए और कौन-कौन से कानून आपको निकालने हैं तो ये मेरा गुजरात समाचार का एडवर्टाइजमेंट है अहमदाबाद एडिशन गुजरात समाचार अहमदाबाद का सबसे बड़ा अखबार है कुछ इसकी पांच लाख छह लाख जितनी कॉपियां छपती है पूरे अहमदाबाद में जाती है और एक कॉपी कोई कॉपी दो कॉपी पढ़ता है कोई दो लोग पढ़ते हैं पांच लोग पढ़ते हैं फैमिली में ऑफिस में जाते हैं तो पंद्रह बीस लोग पढ़ते हैं और फ्रंट पेज पे ये मेरा एडवर्टाइजमेंट है क्वार्टर पेज एक चौथाई पेज का एडवर्टाइजमेंट है आ, गुजराती में है गरीबी भ्रष्टाचार बांग्लादेशी महिलाओं की असुरक्षा गोहत्या ये सारी समस्याओं का सोल्यूशन छह महीने में आ सकता है यदि नागरिक एसएमएस से सांसदों को हुक्म भेजने की अपनी संवैधानिक और धार्मिक फर्ज निभाना आज से शुरू करें तो ये एडवर्टाइज गुजरात समाचार अहमदाबाद एडिशन का हुआ उसके बाद इंडियन एक्सप्रेस में मैंने जो एडवर्टाइजमेंट दिया वो Indian Express Delhi Indian Express Mumbai और इंडियन एक्सप्रेस अहमदाबाद और इंडियन एक्सप्रेस अहमदाबाद में दो दिन आया अक्टूबर तीन अक्टूबर चार ये एडवर्टाइजमेंट है right to recall party manifesto इसमें पार्टी का मैनिफेस्टो क्या है और इसके नीचे मैंने लिखा है अंग्रेजी में लिखा है मैं थोड़ा पढ़ता हूं बाद में अनुवाद करूंगा कि आई रिक्वेस्ट कि problems like poverty corruption women's unsafety naxalism rising flat prices worsening mass education have trivial solution solution I propose to us voters is that if we all 78 crore voters or say 40 crore voters do our constitutional and religious duty of sending orders to MP via SMS to print necessary laws, then poverty, corruption, etc. will end in six months. यानी कि यदि हम 80 करोड़ नागरिक हैं, उनमें से यदि 40 करोड़ नागरिक भी SMS से जरूरी हुक्म भेजना शुरू करते हैं, तो ये सारी समस्याओं का अंत छह महीने के अंदर आ सकता है कौन कौन से हुक्म भेजने चाहिए जो हुक्म आपने को ठीक लगे लेकिन एडवर्टाइज में मैंने तीन चार हुक्म लिख के दिए कि मैं एक्स वाई जेड आपका नाम आपको एमपी का नाम ऑर्डर करता हूं कि आप गैजेट में मिनरल रॉयल्टी और सरकारी जमीन का किराया सीधे सिटीजन के खाते में जमा हो ऐसा नोटिफिकेशन गैजेट में छापो ये नोटिफिकेशन यदि 40 करोड़ लोग इस तरह से एसएमएस भेजते हैं, एसएमएस से ऑर्डर भेजते हैं अपने एमपी को, तो छह महीने के अंदर गैसेट, महीने दो महीने, महीने के अंदर गैसेट में छप जाएगा और ये गैसेट में छप जाएगा, तीन महीने में गरीबी खत्म हो जाएगी। फिर अलग-अलग गुजरात, क्योंकि ये इंडियन एक्सप्रेस थोड़ा महंगा पड़ता है, इसलिए ये एडवर्टाइज छोटी रखी है। गुजरात समाचार में मैंने छह ऑर्डर लिखे हैं कि इस तरह के ऑर्डर सिटीजन को भेजो अरे सॉरी एमपी को भेजो एक ये एमआरसीएम का ऑर्डर है उसके बाद मैं आपको एसएमएस से ऑर्डर कर मैं आपको ऑर्डर करता हूं कि आप राइट टू रिकॉल जज और ज्यूरी सिस्टम का ड्राफ्ट गैजेट में छापो यदि 40 करोड़ लोग ऐसा एसएमएस भेजते हैं अपने एमपी को तो अदालत में जो तीन करोड़ पेंडिंग केस है वो तीन महीने में अरे सॉरी दो साल में रिजोल्व हो जाएंगे और उसके बाद केस में जो आजकल तीन साल छह साल का डिले लगता है वो कम होकर तीन साल का हो जाएगा और अदालतों में न्यायाधीशों का जो भ्रष्टाचार है सब भाई भतीजावाद है वो दो महीने में ही खत्म हो जाएगा यदि 40 करोड़ लोग एसएमएस भेजते हैं कि जो जुवेनाइल की एज है वो 18 से कम करके 16 साल करो इफेक्टिव 1 जनवरी 2010 तो दिल्ली के बस केस में दिल्ली दिसंबर 16 को जो बस का हादसा हुआ था उसमें जो पांचवा आरोपी है जिसको सिर्फ तीन साल की सजा की भ्रष्ट न्यायाधीश ने उसको फांसी की सजा हो जाएगी यदि 40 करोड़ एसएमएस 40 करोड़ नागरिक एसएमएस करते हैं कि जो गोहत्या में पकड़ा जाए बलात्कार में पकड़ा जाए हत्या में पकड़ा जाए भ्रष्टाचार में पकड़ा जाए तो उसका पब्लिक में नार्को टेस्ट होना चाहिए ये कानून गैजेट में छापो ऐसा 40 करोड़ नागरिक यदि अपने एमपी को एसएमएस से हुक्म करते हैं तो ये कानून गैजेट में छपेगा और ये कानून गैजेट में छपने के दो महीने में ये सारे क्राइम है अब आज जितने हो रहे उसके दो परसेंट से भी कम हो जाएंगे और right to recall education minister और sorry right to recall education officer right to recall prime minister ये सारे एसएमएस से आप ऑर्डर भेजो अब क्वेश्चन आता है कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल जिम्मेदारी फर्ज मैं आपको अधिकार नहीं कहता अधिकार तो है ही आपका but it is your constitutional duty constitutional duty कैसे कि भाई एमपी को आपने आपने चुन के भेजा है तो वो यदि ठीक से कानून नहीं पास कर रहा वो ठीक से कानून पास करे वो देखने की जिम्मेदारी भी आपकी बनती है वो आपका एम्प्लॉई है आपने उसको वो एमपी कैसे बना जब आपने इलेक्शन कमीशन को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के द्वारा या बैलेट पेपर के द्वारा आपने इलेक्शन कमीशन को ऑर्डर दिया था इस आदमी को एमपी बनाओ आपने यानी आपके कॉन्स्टिट्यूंसी में पंद्रह लाख अठारह लाख वोटर थे हर एक वोटर ने इलेक्शन कमीशन को ऑर्डर दिया कि इसको वोट इसको एमपी बनाओ इसको एमपी बनाओ इलेक्शन <coughs> कमीशन को जो सबसे ज्यादा ऑर्डर मिले उस ऑर्डर के आधार पर उसने एमपी बनाया वोट क्या है वोट है आप इलेक्शन कमीशन को ऑर्डर दे रहे हो अब वो पार्लियामेंट में गया और उसको आपके ऑर्डर के अनुसार काम करना है अब आप ऑर्डर नहीं भेजोगे तो वो अपनी मनमानी करेगा तो उसमें उसकी गलती क्या आपने ऑर्डर भेजा ही नहीं फिर आप कंप्लेन करते हो कि उसने ये कानून बना दिया उसने वो कानून बना दिया उसने अभी कुछ गोवा के बीजेपी के कार्यकर्ता मुझको मिल रहे थे चिल्ला रहे थे बेचारे कि गोवा की बीजेपी की सरकार ने बैल की हत्या का कानून कि बैल की हत्या होनी चाहिए शुरू करो ऐसा रेजोल्यूशन असेंबली ने पास किया गोवा की असेंबली में जहां बीजेपी की मेजोरिटी है तो मैंने उनको कहा कि आपने अपने एमएलए को एसएमएस से ऑर्डर भेजा कि ये रेजोल्यूशन कैंसिल करो कि बैल की हत्या बंद करो कि बैल की हत्या होगी तो साथ में गाय की भी हो जाएगी तो उन्होंने बोला नहीं हमने एसएमएस से ऑर्डर नहीं भेजा क्यों नहीं भेजा वो आज मैं बताऊंगा कि उन्होंने क्यों नहीं भेजा पर जब आपने एमपी एमएलए को एसएमएस से ऑर्डर भेजा नहीं फिर उसने जो अपनी मनमर्जी से उसको जो अपने मन में आया वो किया तो उसमें गलती क्या उसकी अब धार्मिक फर्ज कैसे होती है तो इसमें मैं आपको सत्यार्थ प्रकाश के छठे चैप्टर का एक लाइन बताऊंगा जो श्लोक है पूरा छठे चैप्टर का पहला ही पेज जो है छठा चैप्टर है दयानंदन सरस्वती जी की पुस्तक का सत्यार्थ प्रकाश का छठा चैप्टर है राजधर्म राजधर्म यानी कि नागरिकों के क्या कर्तव्य है तो जो श्लोक है सभ्यम सभ्य सभाम मैं पाही ये चे सभ्या सभा सदा ये संस्कृत का श्लोक है जो कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने अथर्वे से लिया दूसरा श्लोक भी अथर्वे से लिया है इसका स्वामी दयानंद सरस्वती ने अनुवाद दिया है कि इसका अभिप्राय यह है कि सभापति राजा के अधीन हो और राजा और सभा दोनों प्रजा के अधीन हो और प्रजा राज्यसभा के अधीन हो प्रजा तो राज्यसभा के अधीन ही रहती है आपको पुलिस की गवर्नमेंट के अधीन तो आप हो ही पर राजा और सभा दोनों प्रजा के अधीन यानी कि पार्लियामेंट सभा यानी असेंबली पार्लियामेंट और राजा यानी प्राइम मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर वो दोनों प्रजा के अधीन होना चाहिए ये दयानंद सरस्वती जी ने सत्यार्थ प्रकाश में लिखा है छठे चैप्टर के राजधर्म के चैप्टर के पहले पेज पर और उन्होंने ये भी लिखा है कि यदि राजा प्रजाधीन न हुआ तो प्रजा को लूट लेगा राज्य का नाश होगा यानी राजा प्रजाधीन होना चाहिए इसका मतलब क्या हुआ कि ये आप नागरिकों का कर्तव्य है कि आप राजा को प्रजाधीन रखो सभा प्रजाधीन होनी चाहिए होनी चाहिए का अर्थ क्या हुआ आपका ये फर्ज बनता है धार्मिक कर्तव्य बनता है वेदों के अनुसार कि आप सभा को यानी एमपी को अपने अधीन रखो तो आप उसको कैसे अधीन रख सकते हो एसएमएस से ऑर्डर भेजो भाई आप आप घोड़े की लगाम आपका हाथ में है लेकिन यदि आप लगाम छोड़ दोगे तो घोड़ा आपके अधीन रहने नहीं वाला लगाम तो कम से कम हाथ में रहनी चाहिए फिर ये क्वेश्चन आएगा कि आपने एसएमएस से ऑर्डर भेजे उसने कहा नहीं किया तो क्या करे वो आके आके बात होगी पर यदि आप एसएमएस से ऑर्डर ही नहीं भेजोगे तो आपने आपकी फर्ज नहीं निभाई मेरा मानना है कि जब आपकी मृत्यु होगी और स्वर्ग और नर्क के द्वार पर आप खड़े होंगे तो चित्रगुप्त आपसे पहला सवाल यही पूछेंगे कि आपका जो धार्मिक कर्तव्य था राजा को प्रजाधीन रखने का तो राजा को प्रजाधीन रखने के लिए आपने कितने ऑर्डर एसएमएस से भेजे थे उस समय आप क्या जवाब दोगे और वो सवाल पूछेगा यानी चित्रगुप्त के पास सारा रिकॉर्ड है आपने जितने एसएमएस भेजे उसकी भी कॉपी उसके पास है आपने जितने एसएमएस जानबूझ के नहीं भेजे उसकी भी कॉपी उसके पास है अब आप उससे क्या कहोगे कि एसएमएस भेजने का पैसा नहीं था एसएमएस भेजने का टाइम नहीं था चित्रगुप्त को सब पता है वो आपसे इसीलिए पूछ रहा है ताकि वो अपनी पनिशमेंट को जस्टिफाई कर सके यदि आपने राजा को प्रजाधीन रखने का के लिए एमपी को एसएमएस से ऑर्डर भेजे थे तो आपने अपने धार्मिक कर्तव्य का पालन किया तो आपको स्वर्ग मिलेगा और यदि आपने एमपी को एसएमएस से ऑर्डर नहीं भेजे यानी आपने अपने धार्मिक कर्तव्य का पालन नहीं किया तो आपको नरक मिलेगा फिर आपने एसएमएस से ऑर्डर भेजा और एमपी ने काम नहीं किया तो एमपी को नरक मिलेगा वो एमपी का चोपड़ा खुलेगा तब देखा जाएगा पर हरेक धार्मिक कर्तव्य जैसे कि गो हत्या गायों की रक्षा करना वो हरेक हिंदू का कर्तव्य है रक्षा कैसे होगी कसाई को भाषण देने से होगी कसाई के सामने भागवत पढ़ने से होगी अरे भाई कसाई को जब तुम चरखा घुमाने से होगी भजन गाने से होगी अनशन करने से होगी अन्ना का फोटो टोपी पहनने से होगी या वोट देने से होगी कि जिसको मर्जी आए वोट दे आए उससे क्या कसाई वो गाय काटना बंद कर देगा भाई जब गाय गाय काटने वाले को जब जेल की सजा होगी फांसी की सजा होगी उसका ट्रक जलाया जाएगा जिसमें वो गायों की हेरा फेरी कर रहा था या तो जब उसका जहां पे वो हेरा फेरी कर रहा जहां पे गाय काट रहा था उस प्रॉपर्टी को जब 10-15 साल का सील लगेगा या प्रॉपर्टी जब तो तो नीलाम होगी तब वो गाय काटनी बंद होगी तब गायों की यानी गाय की रक्षा करना आपका फर्ज है इसका मतलब क्या हुआ कि जो व्यक्ति गायों की हत्या कर रहा है उसको सजा करना वो आपका कर्तव्य है अब सजा करने की बात यह नहीं है कि आप सीधा वहां पे चल गए और वहां पे जाके मारामारी की पूरा सिस्टम है पुलिस का अदालत का वो होना चाहिए पर यदि जज रिश्वत लेके कसाई को बेल देता है तो आपका फर्ज बनता है कि जज को नौकरी से निकालो जज बोलता है मेरे पास सबूत नहीं है तो आपका फर्ज बनता है कि आप ऐसे कानून रखो कि जिससे उसको सबूत मिले कौन सा कानून नार्को टेस्ट इन पब्लिक कि भाई जिसके वहां गोमांस पकड़ा गया है जो गायों की हेराफेरी करते पकड़ा गया उसका पब्लिक में नार्को टेस्ट लो तो गायों को बचाना आपका कर्तव्य है यानी उससे जितने कर्तव्य डिराइव होते हैं वो सारे आपके कर्तव्य बनते हैं तो आपका कर्तव्य बनता है कि आप गैजेट में एक कानून छपवाओ कि जो आदमी गोहत्या के जुर्म में पकड़ा गया उसका पब्लिक में नार्को टेस्ट करो और इसलिए आपका यह कर्तव्य बनता है कि आप अपने एमपी को एसएमएस से ऑर्डर भेजो कि जो एमपी कि जो व्यक्ति गोहत्या करते हुए पकड़ा गया है उसका पब्लिक में कंपलसरी नार्को टेस्ट हो ऐसा ऐसी कलम आप गैजेट में छापो मतलब कि एसएमएस पूरा इस तरह से जाएगा कि मैं आपका नाम आपका वोटर नंबर माननीय एमपी एमपी का नाम भी लिख दो मैं आपको ऑर्डर करता हूं कि गोहत्या में पकड़ा जाने वाले का पब्लिक में नार्को टेस्ट हो ऐसा कलम आप गैजेट में छापो इस तरह का एसएमएस से ऑर्डर भेजना आपका धार्मिक कर्तव्य बनता है क्यों क्योंकि यदि ये पब्लिक में नार्को टेस्ट होगा तो ही गाय काटनी कम होगी तो इस तरह से जितने महिलाओं की रक्षा करना वो आपकी धार्मिक कर्तव्य है महिलाओं की रक्षा कब होगी कि जब जो व्यक्ति छेड़खानी करता है अपहरण करता है उसको जेल हो फांसी की सजा हो कम से कम जेल हो तब होगी जज मान लो रिश्वत लेके छोड़ देता है तो जज को नौकरी से निकालो तो राइट टू रिकॉल जज का कानून गैजेट में छापो ऐसा ऑर्डर आप एमपी को एसएमएस से भेजो जो आदमी छेड़खानी में अपहरण वगैरह क्राइम में पकड़ा जाता है तो उसका पब्लिक में नार्को टेस्ट हो वो क्यों आपका फर्ज बनता है क्योंकि जब तो उसका यदि पब्लिक में नार्को टेस्ट नहीं होगा तो सबूत कैसे मिलेंगे इसलिए जो धार्मिक शास्त्रों में लिखा है कि स्त्रियों का सम्मान करना आपका फर्ज है आपका धार्मिक फर्ज है उससे ऑटोमेटिकली ये डिराइव होता है कि जो जो व्यक्ति स्त्रियों को छेड़खानी करते अपहरण करते उनको सजा करवाना वो भी आपका धार्मिक फर्ज है तो उनको सजा करने के लिए जो सबूत चाहिए ईमानदार पुलिस चाहिए ईमानदार जज चाहिए वो सारी चीजें उपलब्ध कराना वो भी आपका धार्मिक कर्तव्य बनता है और उसके लिए जो जो कानून जरूरी है वो सारे गैजेट में आए वो देखना आपका धार्मिक कर्तव्य बनता है और वो कानून गैजेट में छापने का ऑर्डर एमपी को देना एमएलए को देना वो भी आपका धार्मिक कर्तव्य बनता है अब मान लो आपको 200 एसएमएस भेजने पड़े 500 एसएमएस भेजने पड़े तो कितना खर्चा आएगा एक एसएमएस का कितना 50 पैसा अधिकतर में से तो आप लोगों ने पैकेज खरीद लिया होगा नहीं तो खरीद लो सौ रुपए का सौ रुपए का पैकेज आता है जिसमें आप 3000 एसएमएस भेज सकते हो तो आप चित्रगुप्त के दरबार में आप क्या कहोगे कि आपके पास सौ रुपया नहीं था और क्या चित्रगुप्त के पास पता नहीं है कि आपके पास सौ रुपया था या नहीं आप चित्रगुप्त को क्या कहोगे कि भाई एसएमएस भेजने के लिए मेरे पास आधा मिनट नहीं था एक मिनट नहीं था या आपको ये 500 एसएमएस भी भेजना है मैं कुछ ही दिन में अपने वेबसाइट पर रखने वाला हूँ फेसबुक नोट्स में आप डाउनलोड करके मोबाइल को कंप्यूटर से कनेक्ट करो एक के बाद एक सारे भेज दो आप कहोगे कि एमपी का मोबाइल नंबर नहीं था भाई लोकसभा के वेबसाइट पे सबका मोबाइल नंबर पड़े थे आप क्या बहाना दोगे कि भाई मेरे एमपी ने क्योंकि 20 परसेंट एमपी ने अपने मोबाइल नंबर नहीं रखे हैं वेबसाइट पे तो पास के किसी एमपी को भेज दो जो उसी की पार्टी का हो जैसे अडवाणी ने नहीं रखा तो अडवाणी को जो एसएमएस को ऑर्डर भेजना है वो पास के है श्री हरिन पाठक साहब या तो श्री किरीट सिंह सोलंकी साहब उनको भेज दो बात तो एक ही हुई तो ये सारे बहाने चित्रगुप्त के दरबार में नहीं चलने वाले और आप एसएमएस से ऑर्डर नहीं भेजोगे तो आप अपने धार्मिक कर्तव्य नहीं निभाया जहां तक मेरा मानना है आपको नरक की सजा होगी और दूसरी तरह से इसको देखना हो यदि नास्तिक हो क्योंकि मैं भी हफ्ते में तीन दिन ही भगवान में मानता हूं मैं हफ्ते में तीन दिन भगवान में नहीं मानता मैं हफ्ते में तीन दिन भगवान में मानता हूँ जिस दिन मैं भगवान में मानता हूँ उस दिन मैं मानता हूँ कि यदि मैं एसएमएस से अपने एमपी को ऑर्डर नहीं भेजूंगा तो नर्क होगा और जिन तीन दिन मैं भगवान में नहीं मानता उस दिन मेरा ये मानना होता है कि यदि मैं एमपी को एस से ऑर्डर भेजूंगा तो मेरा देश है वो स्वर्ग समान हो जाएगा और यदि मैं एमपी को एस से ऑर्डर नहीं भेजूंगा तो मेरा देश है मेरे आसपास की जगह है मेरा घर हो या आसपास का शहर हो या राज्य हो या देश है वो नर्क जैसा हो जाएगा तो अब नास्तिक हो तो स्वर्ग नर्क की बात को इस तरह से लो कि आपके एमपी को एसएमएस से ऑर्डर भेजने के अच्छे कानून आएंगे और आप एमपी को एसएमएस से ऑर्डर भेज नहीं भेजोगे तो अच्छे कानून नहीं आएंगे अब जो मैं गोवा के कार्यकर्ताओं की बात कर रहा था कि उन्होंने बोला कि भाई हमारे बीजेपी के ही एमएलए हैं जो कि कानून ला रहे हैं कि गाय बैलों की कत्ल होनी चाहिए वो क्या हुआ कि वहां पे कानून था कि गाय की कत्ल पे बैन है पर बैल की कत्ल हो सकती है वो बैकडोर एंट्री रख दी गायों की कत्ल करनी हो क्योंकि एक बार बैल जाएगी तो अब कौन देखने वाला है कि बैल के दस बैल के साथ पांच गाय चली गई तो तो मोस्टली तो हाईकोर्ट तो एक आदमी हाईकोर्ट में चला गया उसने सबूत के साथ बताया ये बैल कटने का कानून है उसकी वजह से गाय कट रही है तो नॉर्मली तो हाईकोर्ट के जज करप्ट होते हैं पर कभी-कभी कोई ईमानदार धार्मिक लोग आ जाते हैं गलती से तो उसने बैन कर दिया कि बैलों की कत्ल कत, कतल नहीं होगी तो जो चीफ मिनिस्टर है उसने हो हल्ला मचाना शुरू कर दिया कि बीफ नहीं मिल रहा बीफ नहीं मिल रहा इसलिए टूरिज्म इंडस्ट्री खत्म हो जाएगी अरे भाई गोवा में यदि बीफ नहीं मिलेगा तो लोग बकरे का मीट खाएंगे चिकन खाएंगे ऐसा थोड़ा है कि जो आदमी गोवा गया वो अच्छा गाय का मीट नहीं चलता चलो अब मैं गोवा नहीं आने वाला तो वो सब उसने बकवास किया और असेंबली में रेजोल्यूशन पास करवा दिया पानी कर करके कोई बिहार ये बीजेपी का चीफ मिनिस्टर है कि भाई बैलों का कत्लेआम होना चाहिए तो रिजोल्यूशन से क्या होता है कि हाईकोर्ट पे एक तरह का प्रेशर आता है और हाईकोर्ट को अब वो स्टे ऑर्डर उठाने का मौका मिल गया क्योंकि वो दो जज की बेंच थी उसके बाद वो केस गया कुछ तीन या चार पांच जज की बेंच के पास था तो अब असेंबली में रेजोल्यूशन पास हो गया तो पांच जज की बेंच को स्टे ऑर्डर उठाने का बहाना मिल गया उसके बाद केस क्या कहा वो मुझे पता नहीं तो मैंने बीजेपी के कार्यकर्ताओं को बोला कि एमएलए को एसएमएस से ऑर्डर भेजो तो उसने बोला कि भाई ये ऑर्डर भेजने की बात हमने कही अपने डिस्ट्रिक्ट uh, के हेड से तो उसने मना कर दिया और उसने यहां तक धमकी दी कि बीजेपी का कोई भी कार्यकर्ता यदि इस तरह से एसएमएस को ऑर्डर भेजेगा वो कांग्रेस का एमएलए हो या बीजेपी हम उसको बीजेपी से सस्पेंड कर देंगे तो मैंने कहा ठीक है मत भेजो तुम्हारा कर्तव्य प्यारा है या, या पहले आता है या पार्टी पहले आती है वो तुम डिसाइड करो फिर दिल्ली में भी इसी तरह की बात हुई तो उन्होंने भी बोला कि जो बीजेपी कांग्रेस आम आदमी पार्टी तीनों के कार्यकर्ताओं ने मुझे ये दिया कि भाई हमारे जो नेता है शीला दीक्षित है और ये विजय गोयल है और ये अरविंद गांधी है उन्होंने विरोध किया है कि इस तरह से पार्टी का कोई कार्यकर्ता एमएलए एमपी को एसएमएस से ऑर्डर नहीं भेजेगा और पार्टी का कोई कार्यकर्ता ऐसी पैम्पलेट भी नहीं बांटेगा सिटीजन के बीच कि भाई सिटीजन एमएलए एमपी को एसएमएस से ऑर्डर भेजो और अन्ना ने भी इसका यही बात के विरोध किया कि भाई गरीब आदमी है मोबाइल कहां से लाएगा अरे भाई एमपी को एसएमएस से अभी ऑर्डर भेज के हर एक आदमी को मोबाइल फ्री में दे जिनके पास नहीं है कि एसएमएस के पैसे कहां से लाएगा एमपी को दूसरा ऑर्डर भेजो कि हर एक आदमी को जो फ्री में मोबाइल दे रहा है उसमें महीने का दो मिनट का टॉक टाइम फ्री और वो एक एसएमएस फ्री में कर सकता है पांच एसएमएस फ्री में कर सकता है या तो हर एक एमपी है वो एक नंबर खरीदे स्पेशल नंबर जिसपे हर एक आदमी मोबाइल से महीने के 50 ऑर्डर फ्री में भेज सकता है और उसके बाद उसको 10, 20, 50 पैसे का चार्ज लगेगा फिर कि भाई गांव में तो बिजली नहीं है तो एमपी को दूसरा एसएमएस से ऑर्डर भेजो कि हर एक को सोलर चार्जर दो जो जो एरिया है जहां पे बिजली नहीं है वैसे ये बिजली की बात क्यों बकवास है क्योंकि मैंने बहुत सारे ऐसे एरिया देखे जहां पे ये बिजली का प्रॉब्लम था मतलब गुजरात में 95 परसेंट विलेजेस तक बिजली पहुंच गई है इवन ट्राइबल एरिया पर फिर भी कभी कुछ बहुत ऐसे इलाके हैं जहां पे बिजली नहीं पहुंची तो वहां पे भी लोगों के पास मोबाइल है तो वो कैसे करते हैं कि वो बहुत ही सस्ता मोबाइल खरीदते हैं जो कि तीन चार दिन चले और वो जब कभी उनको तीन चार दिन में एक बार शहर का धक्का खाना होता है तो वहां जाके वो चार्ज करा लेते हैं और कुछ लोगों ने वहां पे सोलर चार्जर खरीद लिया और वो दो रुपया चार्ज करते हैं मोबाइल चार्ज कराने का कि आप उसको मोबाइल दो वो दो रुपया लेगा तो सोलर चार्जर पे वो पूरी बैटरी चार्ज करके देगा तो लोग अपने आप तरीका निकाल लेते हैं ऐसी बात नहीं है पर अन्ना ने बस ऐसे ऊट पटांग बहाने कुछ बना दिए और बोलते हैं कि नहीं ये मोबाइल से एसएमएस भेजने का तरीका ठीक नहीं है क्योंकि यदि नागरिक सीधा एमपी को एसएमएस से मोबाइल भेजना शुरू करेंगे तो उसकी अनशन की दुकान खत्म हो जाएगी अरविंद भाई का भी यही लॉजिक है वो एक बार मुझे फोन पे उन्होंने ये बोला कि मेहता भाई क्या तुम मेरी दुकान बंद कराना चाहते हो लोग सीधा एमपी को एसएमएस से एमपीएलए को एसएमएस से मोबाइल भेजना शुरू करेंगे तो उनके काम होने शुरू हो जाएंगे तो नई पार्टी की धंधा ही बंद हो जाएगा नया पार्टी का तो मैंने उनको पूछा कि भाई तुम्हें नया पार्टी का धंधा करना है या लोगों के काम करवाना है तो हंसने लगे कि वो काम ही करवाने हैं पर साथ में थोड़ा बहुत बिजनेस भी तो होना चाहिए ना बिजनेस इज बिजनेस तो वो जितने पुराने नेता है बीजेपी कांग्रेस के और जो नए नेता है आम आदमी पार्टी के उनमें से कोई नहीं चाहता कि नागरिक सीधा अपने मोबाइल से एसएमएस भेजे इसलिए इस तरह का एडवर्टाइजमेंट जो मैंने दिया इंडियन एक्सप्रेस में मैंने अपने पैसे से दिया है उसमें से एक कार्यकर्ता ने मुझे 18,000 का डोनेशन दिया मैं पैसे की बात नहीं करता पर ये तो उन्होंने दिया मुझे इसलिए मैं बोल रहा हूँ इसका कितना खर्चा है मैं आपको नहीं बताने वाला क्योंकि मैं ये बताना पसंद नहीं करता कि मैंने कितना पैसा खर्च किया पर ये इंडियन एक्सप्रेस की एडवर्टाइज है ये दिल्ली बॉम्बे अहमदाबाद और ये सेकंड पेज पे क्यों आई क्योंकि एडिटर ने फर्स्ट पेज पे लेने से मना कर दिया वरना मैं इसका डबल पैसा 100 परसेंट सरचार्ज होता फर्स्ट पेज का वो देने को तैयार था पर फर्स्ट पेज में क्या होता है कि एडिटर का अपना डिस्क्रिप्शन चलता है एडिटर इंडियन एक्सप्रेस का पेड इंडियन एक्सप्रेस का मेरे ख्याल से पेड राजकमल झा या पता नहीं कौन किरायादार है बिकाऊ सारे पत्रकार बिकाऊ होते हैं ये भी बिकाऊ है वो राइट टू रिकॉल का विरोधी है तो वो मेरी एक भी एडवर्टाइज फ्रंट पेज पे नहीं आने देता एक एडवर्टाइज जनवरी के जनवरी 2009 के महीने में फ्रंट पेज पे चली गई उसके बाद वो मेरी एक भी एडवर्टाइज फ्रंट पेज पे नहीं आने देना और फ्रंट पेज पे एडवर्टाइज आनी हो तो यदि एडिटर मना कर दे तो मुझे मार्केटिंग वाले ने क्या कहा सेल्स वाले ने कि भाई मैं सेकंड पेज पे रखवा दूंगा मैंने कहा नहीं मुझे फ्रंट पेज पे चाहिए क्योंकि सेकंड पेज पे रखाओगे मेरा एटी परसेंट ऑडियंस चला गया तो उसने कहा देखो भाई यदि आपको फ्रंट पेज पे रखवाना है और यदि एडिटर मना कर दे तो हमारी बोलती हमारी नहीं चलती अब आप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास जाओ या चेयरमैन के पास जाओ और उसने मुझे बोला कि यदि दो करोड़ से कम का एडवर्टाइजमेंट है तो चेयरमैन भी आपकी बात आपका आपका आपकी बात सुने एक सेकंड भी नहीं देगा क्योंकि आपका ये जो एडवर्टाइजमेंट है वो हमारे सेल्स रेप जो है उसके लिए बहुत बड़ी रकम है पर आप डायरेक्टर लेवल के पास आदमी के पास जाओगे तो उनके लिए तो ये चिल्लर भी नहीं है मूंगफली का मूंगफली क्या मूंगफली का छिलका भी नहीं है तो एडी उसमें प्रोसीजर क्या होती है कि एडिटर को यदि फोन का पेपर का मालिक बोल के धमका है कि ये एडवर्टाइज छापनी है तो एडिटर फिर मान जाता है पर यदि मार्केटिंग वाला बोले उसको कि एडवर्टाइजमेंट छापनी है तो वो नहीं सुनता तो पेड इंडियन एक्सप्रेस का जो पेड एडिटर है राजकमल झा या नाम पता नहीं मुझे मैं थोड़ा भूल गया उसने फर्स्ट पेज पे आने से मना कर दिया इसलिए मैंने सेकंड पेज पे एडवर्टाइज छापी पर आम आदमी पार्टी के पास तो पैसा है कि वो हिंदुस्तान टाइम्स ऑफ इंडिया हर एक में एडवर्टाइज दे सके प्रेस रिलीज भी दे सके लेकिन वो प्रेस रिलीज नहीं दे रहे हैं कि एमपी एमएलए को एसएमएस से डायरेक्ट ऑर्डर भेजना चाहिए यहां तक कि मैंने उनको बोला कि भाई आप मान लो आम आदमी पार्टी के एमएलए चुन के आ गए कि एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है जहां पे दो लाख वोटर है दो लाख वोटर में से आम आदमी पार्टी को मान लो डेढ़ लाख लोगों ने वोट डाला आम आदमी पार्टी को मानो डेढ़ लाख में साठ हजार वोट मिले और बाकी दोनों को पैंतालीस पैंतालीस हजार वोट मिले आम आदमी पार्टी का एमएलए जीत गया अब वो भ्रष्ट हो गया एमएलए बनने के बाद अब महीने दो महीने छह महीने बाद यदि वोटर उसको अस्सी हजार या सत्तर हजार या साठ हजार एसएमएस से ऑर्डर भेजते हैं कि तू रिजाइन कर और तो उससे ये आदमी ज्यादा बेटर है यानी रिप्लेसमेंट भी दे रहा है साठ हजार वोट से आया था और अब सत्तर हजार लोग उसको एसएमएस से ऑर्डर भेज रहे हैं कि तू निकल और इस आदमी को एमएलए बनने दे तो क्या आम आदमी पार्टी का एमपी एमएलए वो रिजाइन करेगा तो अरविंद भाई ने क्या बोला कि भाई एक बार एमएलए बन गया ना साठ हजार वोट से या पचास हजार वोट से अब सत्तर हजार अस्सी हजार तो क्या दो लाख वोटर में से सारे के सारे दो लाख भी एसएमएस करके ऑर्डर भेजेंगे ना कि रिजाइन करो और इस आदमी को एमएलए बनने दे तो भी पांच साल तक हम कुर्सी खाली नहीं करने वाले वो आगे कुर्सी पे अब पांच साल तक हम रह के जाने वाले हैं और मैंने बोला राइट टू रिकॉल तो क्या राइट टू रिकॉल का ड्राफ्ट पांच साल तक आने ही नहीं दूंगा दो साल तक तो नहीं आया दो साल तो हो गए पांच साल तक राइट टू रिकॉल का ड्राफ्ट नहीं आने दूंगा अब होगा क्या कि यदि नागरिक एसएमएस से ऑर्डर भेजना शुरू करते हैं तो उनकी पोल खुल जाएगी कि वो राइट टू रिकॉल का कानून नहीं ला रहे वो नागरिकों की बात नहीं मान रहे वो आम आदमी पार्टी है ही नहीं सारी पोल खुल जाएगी इसलिए उन्होंने ये कानून ये एसएमएस से और नागरिक एसएमएस से ऑर्डर भेजे ये आदत डालने से मना कर रहे हैं लेकिन मैं आप कार्यकर्ताओं के कहूंगा कि आप मेरी बात पे विश्वास ना करो तो सीधा अन्ना को अरविंद भाई को फोन करके पूछ लो फेसबुक पे पूछ लो जैसे पूछना है पूछ लो वो आपको कहेंगे कि नहीं एसएमएस से ऑर्डर मत भेजना सारे कार्यकर्ताओं मना दिया आप सत्या और प्रकाश का छठा चैप्टर का पहला दूसरा पेज खुद खोल के पढ़ लो इसमें लिखा है कि राजा को प्रजाधीन रहना चाहिए राजा प्रजाधीन होना चाहिए राजा और सभा दोनों प्रजाधीन होनी चाहिए इसका मतलब कि आपका ये कर्तव्य बनता है रिलीजियस ड्यूटी धार्मिक कर्तव्य बनता है कि आप अपने एमपी को और पीएम को प्रजाधीन रखो प्रजाधीन कैसे रखोगे पहले ऑर्डर तो भेजना शुरू करो और प्रजा का अधीन मतलब क्या कि वो प्रजा का ऑर्डर का पालन करता है ऑर्डर का मतलब यह नहीं है कि चार सिटीजन ने बोला कि यह कानून बना और कानून बना मेजोरिटी प्रूव करना भी होनी चाहिए एमएलए के अंडर में दो लाख वोटर है तो यह नहीं है कि बीस एमए वोटर ने ऑर्डर भेजा कि यह काम करो और उसको करना पड़े पर यदि उसकी कॉन्स्टिट्यूंसी में से यदि दो लाख में से एक लाख दो हजार लोग एसएमएस से उसको ऑर्डर भेजते हैं कि भाई तू इस पार्लर असेंबली में इस कानून पे हाँ वोट डालना या ना वोट डालना तो वो उसके लिए इफेक्टिव ऑर्डर हुआ और इसलिए एमएलए को एसएमएस से ऑर्डर भेजना वो आपकी धार्मिक कर्तव्य है यदि आप ये कर्तव्य नहीं करोगे तो चित्रगुप्त आपको नरक में भेजेगा ये मेरा मानना है धन्यवाद